आज सुबह ऐसे धर्मवीर जी खिड़की थी खुला अभी भी जैसे खुला है तो उसमें समय ठंडी हवा चलो तो देखिए ये खोला